नमस्कार मित्रों मेरा नाम आनंद कृष्णा है मैंने एक कविता लिखी है जो दिवाली के ऊपर है इसका शीर्षक है तू आई कविता कुछ इस प्रकार है तू आई मेरे जीवन के अंधकार को दूर भगाने आई तू आई इस असित अमावस विभावरी को ना समझी की जटिल लड़ी को काम क्रोध लालच में मदलिप्ता सुरी खोखली मनोवृत्ति को दूर कर दीप कर स्नेह लुटाकर हाथ पकड़ दीप्ति से मिलाने आई तू आई मेरे जीवन के अंधकार को रोशन करने आई तू आई अयाशी और व्यभिचार में मधु विलास के हर प्रकार में छल प्रपंच और कपट व्याज से अर्थ सिद्धि और बल प्रचार में आखे टक की जाल में फंसी एक कपोतसम इस जीवन को मुक्त कराने आई तू आई मुझे निरुपाय को विकट काल में युक्ति बताने आई तू आई कण कण उजास है मन आसुदा मिलन प्यार शुभ लाभ की इच्छा धवल ज्योति से उर को रोशन करा रहा दीपों का गुच्छा मैं मैं बस मैं को जबते इस कालकूट से सने हृदय में सुधा बहाने आई तू आई नवल ज्योति के नव प्रकाश से इस जीवन की तम शुचि पर हिमपात कराने आई तू आई मेरे जीवन को स्वर्ग बनाने मार्ग भ्रमित को मार्ग बताने दीपों का रथ चढ़ आई तू आई धन्यवाद मित्रों कृपया इस कविता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें